Oh. विचार हुआ जिसमें पूर्व में दो श्लोकों के द्वारा संसार वृक्ष का वर्णन हुआ संसार एक वृक्ष के समान है वृक्ष कट जाता है वो वस्तु छेदने धातु से क्षा प्रत्यय करके वृक्ष बनाया जाता है तो वो कटने वाला होता है ये भी कटने वाला है ज्ञान के द्वारा कटेगा ये असंग शास्त्री के द्वारा कटता है कहा असंगता है जहां जहां अपनी ममता होती हो लोक मुझे चाहिए स्वर्ग आदि लोक पुत्र आदि मुझे चाहिए पुत्रों की इच्छा तत्पर लोक प्राप्ति की इच्छा धन की इच्छा लोकेशण पित्तेषणा पुत्रेषणा जो कहा जाता है ये सब हमारी इच्छा उन इच्छाओं के अभाव करना है इससे व्युत्थान होना है पृथक होना है यही है इसको जीतने का साधन इसको काटने का साधन यही है जहां जहां अहम और ममता है मेरे हैं मुझे चाहिए अथवा मैं हूं शरीर आदि में अन्य में जो आत्मभाव है अहमता ममता है इससे पृथक होना यही असंग शस्त्र अपने को पृथक करना मैं असंग आत्मा हूं ये शरीर आदि जो है प्रकृति का है मेरा नहीं है ये प्रकृति के कार्य है मेरे नहीं है इस भाव में रहना तो पूर्व दोस्त लोगों से कहा था संसार पर दृश्य वर्ण ऊपर मूल वाला है मान जड़ इसका ऊपर है परमात्मा से निश्चित होता है ये माने अज्ञान काल में परमात्मा में दिखाई पड़ता है निश्चित होना माना ऐसा है विवर्तवाद परिणाम नहीं परमात्मा बिगड़ करके जिगड़ बनाने समझा जैसा दूध का दही बनना होता है बिगड़ करके होता है और दूधावस्था को परित्याग करके दही अवस्था में पहुंचता है उसको परिणाम कहा जाता है और जो वस्तु जैसा है वैसा ही है नजर बदल जाती है उसको कहते हैं विवर्तन जैसे रज्जु में सर्प भाषण होता है वहां सर्प है ही नहीं रज्जु ही है किंतु अज्ञान के कारण दिख रहा हो इसको विवर्त कहते हैं माने वस्तु बिगड़ा नहीं रज्जु बिगड़ी हुई नहीं होती वहां रज्जु जैसे पहले थी वैसा ही है किंतु सर्प बुद्धि बन गई सर्प नहीं है उसको विवर्तक कहते हैं मैंने भ्रांतिकालीन जो पदार्थ को विवर्तक कहा जाता है <clears throat> व्यावहारिक जो होगा वो परिणाम कहा जाता है जैसे दूध का दही परिणाम और विवर्त ही है भ्रांतिकालीन है भ्रांति के कारण भाषते हैं मरुभूमि में जल दिखना रज्जु में सर्प दिखना सीपी के टुकड़े में चांदी बुद्धि होना यह सब भ्रांति है इसको विवर्त कहा जाता है वैसे जगत विवर्त है उस परमात्मा में अज्ञान से होता है रज्जु के अज्ञान से सर्प भाषता है इस प्रकार अपना स्वरूप का अज्ञान से जगत भाष रहा है यदि स्वरूप का ज्ञान होता तो जगत नहीं भाषता यदि रज्जु का ज्ञान होता तो सर्प नहीं भाजता ठीक इस प्रकार यहां भी है तो जो भ्रांतिकालीन पदार्थ जो आप यहां देख देख रहे भाष रहे हैं अभी प्रकृति का विषय ज्ञान का विषय बने हुए हैं तो इसका मूल परमात्मा है अधिष्ठान वही है वही कल्पना है एक ऊर्ध मूलम अदस शाखम नीचे की तरफ इसकी शाखा है माने महातत्व अहंकार कार्य वर्ग में आई है सब कार्य वर्ग में अहंकार है पंचतन मात्रा है इंद्रिया एकादश इंद्रिया और पांच विषय जो भी हैं एक आदि वर्ग है अदह का इसको नीचे की ओर है संसार ऊपर परमात्मा ने उत्कृष्ट है परमात्मा श्रेष्ठ है कर्म तात्पर्य है वो तो, ऊर्धमूल चाहकर अश्वत्व प्रावरोध छंदांशे से बढ़ाने इसको बढ़ाने वाला संसार वृक्ष को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वृद्धि को प्राप्त कर रहा है कौन वेद मान कर्मकांड पर ये करो सो करो सो करो ऐसा बोले से इसकी वृद्धि हो रही संसार वृक्ष की यज्ञ करता है स्वर्ग हो गया तैयार हो गया इत्यादि छंदांश ऐसे पढ़ाने का छंद माने इसके पत्ते हैं पत्ते तो नहीं पत्ते जैसे हैं जैसे पत्ते वृक्ष को ढक देते हैं इस प्रकार ये भी संसार के दोषों को ढक के बैठे हुए हैं और कर्मकांड पर लोलुपता दिखा रहे हैं जो पूर्व मीमांसा जिसके आधार पर बैठे होते हैं स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कर्म करना इत्यादि ये जो कर्म कर्म ये जो सामवेद है कर्म परक ये होते हैं जो पत्य के समान संसार वृक्ष पत्य है ये अस्तम वेद शब्द का मूल के सहित इस संसार वृक्ष को कुछ जानता हो मूल क्या है परमात्मा तम माने लेना है जो व्यक्ति इसको जानता हो तम वेद वेद वाले जानता विधि ज्ञान धातु वेद वाले जानता है जाता है वही वेदार्थ भी तो होता है कहते वेद के अर्थ को समझने वाला वही होता है यथार्थता को समझने वाला वही होता है भूल के सहित केवल संसार पृष्ठ को जाने से काम नहीं चलेगा इसको तो त्यागने के लिए अपने स्वरूप से बाहर करने के लिए जानना होता है और उस परमात्मा भाव में अपनी स्थिति बनाने के लिए जानना होता है स्तंभ वेदा परमात्मा के सहित मूल कार्य के सहित संसार वृक्ष को जानता है वही वेद के अर्थ को समझता है मान वेद के तात्पर्य को समझने वाला वही है ऐसा कहा पहले श्लोक में दूसरे श्लोक बोल दिए अदस्वर्धम प्रतिष्ठा शाखा ये जो भूरादि लोग माने जाते हैं ना चौदह भोगन माने जाते हैं उसकी शाखा है उस वृक्ष की संसार वृक्ष की शाखा नीचे ऊपर दोनों तरफ है तो नीचे ऊपर कहां से कर रहा नीचे मान मनुष्य लोग के नीचे अतल बीतल सुतल तला तला रसातल महातल पाताल जो पुराणों में चर्चा है सात लोग इसके नीचे मानते हैं और ये भूलोक तो भू लोग सहित ऊपर के सात लोग भू ये हो गया भूवा अंतरिक्ष स्व हमारे स्वर्ग उसका मोह जाना तप असत्य अंतिम लोग ऊपर में सत्य लोग जो ब्रह्मा का निवास मानते हैं तो ये चौदह भुवन को कहा माने मनुष्य लोग से ऊपर को लेकर के ऊपर ऊपर कहा मनुष्य लोग के नीचे को लेकर काला कहा अधस्त और दो शाखा नीचे ऊपर दोनों तरफ उस संसार वृक्ष की शाखा फैली हुई है दोनों तरफ और चौदह भूमों में आश्रित है चौदह भोग में कहा नाम तो इत्यादि और अश्वर्धम प्रसाद शाखा गुणा प्रवृत्ता तीनों गुणों के द्वारा संसार के वृक्ष बड़े हुए सब शाखाएं बड़ी हुई है सब बड़ी बड़ी तने होने हैं शाखा लगी होते गुण ही प्रवृत्ता गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ये सब शाखा है गुण ही तीनों गुण सदुगुण रजुगुण तमगुण कर्म कराते अपने ढंग से कर्म कराते उसे संसार की पुष्टि होती रहती है गुण गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला जो विषय पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार में कहीं भी जाए यही पाए जाएंगे चाहे ब्रह्मलोक जाए चाहे रसातल पहुंचे कहीं भी हो किसी भी लोक में पहुंचेगा चौदह भवन में मिलेंगे पांच विषय उसके भोगने के साधन थोड़ा अन्य प्रकार होंगे ये अलग विषय है किंतु एक ही है वो पांच इंद्रिय भी सभी में है सभी पांच विषय भी है भोगने के तरीका अलग अलग होगा जैसे सर्प वायु को पीता है वायु से जीवित रहता है सर्प जो दूषित वायु है ना उसी को सांप बिच्छू पीते हैं यदि वो न हो तो सारा दूषित हो जाए संसार दोष से ग्रसित हो जाए वो भी रक्षक हैं एक दृष्टि से सांप बिच्छू रक्षक होते हैं सर्पापिबंती पवनम न तो निर्बल दुर्बलास्ते आता है सर्प पवन पीते हैं दुर्बल नहीं होते शुष्क स्त्रीणई बनगजा बलिनो भवंती जो जंगली हाथी होते हैं सूखे हुए तिल के फूस खा करके बलवान रहते हो भी देखा है हवा पीने वाली भी बलवान देखा है और केवल सूखा घास खाने वाले तिनके खाने वाले जंगली हाथी हैं वो भी बड़े बलवान होते हैं कंदे फले मुनिबरा क्षपयती कालम कंदा जमीन के नीचे होने वाला कंद बोलते हैं फल ऊपर होते वृक्ष होते हैं इनके द्वारा जो साधक लोग हैं काल यापन करते हैं संतोषमेव पुरुष से परम निधानम इसमें क्या संतोष बड़ा परम खजाना संतोष है ये संतोष है उसी में कृष्ण पुष्ट है में काम कर रहे हैं एक वायु केवल वायु पी रहा है हवा पीता है और एक बन के घास फूस खा करके रह रहे हैं और एक कंदमूल में जीवन यापन कर रहे कंद और फल में फिर संतोष सबसे बड़ा संतोष है संतोष समय वह पुरुष से हाँ, ऐसा आता है तो भिन्न भिन्न प्रकार से आहार लेने के तरीका है कोई नीचे से आहार लेते हैं कोई ऊपर से लेते हैं ऐसा है कोई तेरसा आहार वाले होते हैं तीन प्रकार के आहार देखा जाता है वृक्ष आदि नीचे से आहार लेते हैं जड़ से लेते हैं वो उर्दू आहार है और मनुष्यों का आहार अधो होता है ऊपर से नीचे हो जाता है पशु आदि का तिरछा होता है सीधा जाता है तो प्रकार भिन्न भिन्न होगा लेना ये पांच विषय सभी नहीं चाहे रसातल से लेकर के सत्य लोग तक जितने भी है पांच विषयों पर भोग कर रहा है यहां पर से रूप रस करना यही होना है तो <clears throat> विषय प्रवाला कहा अधस्वर्धम प्रत्यात सदा का गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला बोला अनुसंतता नहीं और नीचे की तरफ एक जड़ और गड़ा हुआ है इसका एक जड़ तो मूल है ऊपर है परमात्मा है दूसरा कर्मरूपी जड़ कर्म वासना कर्म से होने वाली बात संस्कार मनुष्य लोग में विशेष रूप से एक जड़ गड़ा हुआ है ये कहा अदस्य मूलानी अनुसंतता मूल वाले जड़ होते हैं जड़े यहां भी गड़े हुए हैं नीचे की तरफ है जड़ मन मनुष्य लोग में कर्मानुबंधी मनुष्य लोग कर्म में कर्म के पीछे होते हैं संस्कार वासना वो कर्म के अनुबंधी कहा गया वासना को कर्म से संस्कार होता है संस्कार से पुनः कर्म होगा ये चलता रहता है इसमें मनुष्य लोग में है विशेष करिए हाँ। मनुष्य लोग में मैंने मनुष्य शरीर में न हाँ, लोग माने शरीर मनुष्य शरीर की ऐसी बात है अन्य भी रहते हैं मनुष्य लोग पशु आदि भी है लोग तो किंतु मनुष्य शरीर में कर्म से भरे हुए विशेष है लोक भरे शरीर लोग कहते कर्म फल बुझते लोग कहा ऐसा कहा तृतीय श्लोक में कहा देखो जैसा रूप का वर्णन लोक में कहते हैं संसार पुरुष के वर्णन करते हैं जैसे यहां भी अनुवाद किया जो लोक में जैसा देखा जाता है उसका ये दो श्लोक में अनुवाद किया यहाँ यही मात्र अनुवाद ने श्रुति में भी यही बात अबाक्षा का यशो अश्वत्थ सनातन परिसर में तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव मृतमस्ते तस्मिन लोकाश्रता सर्वे तदुनाथ यदि परिसर का यह अनुवाद है माने लौकिक जो मानते हैं लोग उसका अनुवाद किया गया है वास्तविकता नहीं है अनुवाद में वास्तविकता नहीं होती वास्तविक नहीं होती अनुवाद में इस स्थिति अनुवाद जो होता है देखो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास एक व्यक्ति को भेजा तीसरे पास में जाओ उसको जाके ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो तो गाली दिया तो वो गाली सुनने वाला व्यक्ति यहां नहीं है बीच वाले को बोला जाके सुनाओ उसको वो जाता है वहां जाकर के जैसा उसने बोला वैसे बोल देता है तो ऐसा है ऐसा ऐसा है किंतु अभी जो सामने गाली दे रहा है उससे क्या वो दुखी होगा वो व्यक्ति नहीं होता वो समझता है ये शब्द उसका नहीं है वो दूसरे का शब्द है और भी बोलता है और कुछ कहा हो तो बताओ ऐसा पूछता है हाँ। मैं उसे नाराज नहीं है जो गाली दे रहा है सामने सामने क्यों दूसरे के जैसा कहा वैसा बोल रहा है ये दूसरे का शब्द ऐसा मानता है तो ये लोक में जो प्रसिद्धि है वो तो बोला शाखा वाली वही यहां अनुवाद है नरो क्यों क्योंकि अनुवाद मात्र है वास्तव में वो रूप नहीं है इसका वास्तविक नहीं है रूप न रूप अवश्य है तथोपलभ्य थे जैसा कहा हुआ था वैसा रूप इसका वास्तव में नहीं होता जब विचार दृष्टि में जाता है तो उसका रूप ही नहीं होता संसार का अविचारित काल में ही जीवित है ये जब तक विचार नहीं करते तब तक जीवित है भ्रांतिजन्य जो पदार्थ होता है जब तक हम विचार नहीं करते हैं तभी तक जीवित होता है वो न रूप अवश्य यह कथा उपलब्ध देगा अश्य रूपम ये संसार का स्वरूप ये हमारे विचार काल में उपलब्धि नहीं होती जिस प्रकार कहा था उसकी उपलब्धि नहीं है मैंने स्वरूप वास्तविक नहीं है और उपलब्ध है किंतु तो नांतो तो रथम प्रतिथा कहते ये इसका अंत भी नहीं होता चल रहा चल रहा है चल रहा है ऐसे ही जैसे उस पेड़ में भूत रहता है किसी ने बोल दिया था ऐसी है भूत रहता है तो उसको पूछा आपने देखा बोला मैंने तो नहीं था अमु ने कहा तो अमुक के पास गया पूछा आपने देखा अमुक ने कहा चलता ही रहता क्यों तो अंधविश्वास चल रहा है वैसे संसार पुरुष की स्थिति ऐसी है नान्त अंत नहीं होता इसका किसी एक को ज्ञान हो गया तभी संसार को उसके लिए अंत हो गया बाकी के लिए तो संसार रहेगा ही चाहते अच्छा, कब से आरंभ हुआ ये पता नहीं है अनादिकालीन करके बोलते हैं कब से है ये पता नहीं कब तक रहेगा भी जानकारी नहीं होती नर्थसम तो प्रतिष्ठा सम्यक प्रकाश से प्रतिष्ठित भी नहीं है उसका स्वरूप भी नहीं है अश्वत्थ मैदान से विरोध मर का ये जो अत्यंत रूढ़ अत्यंत जड़ बना हुआ है संसार है करके मान्यता बनी हुई है मनुष्य लोगों में विशेषकर मनुष्य शरीर में विशेष रूप से जड़ घुसा हुआ है संसार बढ़ाने के लिए कर्मकांड आदि वासना है असंग शस्त्र दृढ़ चित्व कहा इसको काटने के लिए असंगता रूपी शस्त्र चाहिए अपने को अलग करना सबसे अलग करना सबसे पहले कनेक्शन ये काट देना शरीर में यहां से कट गया तो सब कट जाएगा क्यों यहां संबंध होने से मैं हो गया मैं होने के बाद मेरा ये मेरा ये मेरा मेरा देश मेरा गांव मेरा घर ये अमुक कम अनेक हो जाएगा यहां मेरे शत्रु मेरे मित्र कितने आ जाएंगे दुनिया भर पूरे ब्रह्मांड में हम फैल जाएंगे इसके साथ संबंध होने से इसका संबंध उसके साथ उसका संबंध उसके साथ उसके संबंध उसके होते होते हम कहां पहुंच जाते पता नहीं होता यही काटना है असंगरात असंगता रूप शस्त्र यही लगाना है देह आदि से अपने को पृथक करना है यही विचार चले ना हम देह न मे देह ये भाव हो मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ना हम देह मैं शरीर नहीं ये प्रकृति का है न मे देह मेरा नहीं है प्रकृति प्रकृति है शरीर मैं प्रकृति का शरीर मेरा नहीं है मैं असंग हूं असंगो नहीं सज्जते इत्यादि श्रुति है असंग या यम आत्मा अयम पुरुष ये पुरुष आत्मा असंग है असंग का किसी के साथ संबंध नहीं होता इन श्रुतियों के ऊपर विश्वास करके बैठे यानी तो विश्वास करना पड़ेगा तो असंग रूप शास्त्र से वो भी कैसा हो वह शास्त्र एकदम धार लगाया हुआ है दृढ़ किया हुआ मजबूत किया हुआ है जैसे लोहे तलवार आदि में धार लगाते हैं पत्थर में घिसते हैं यहां भी क्या है विवेक रूप जो पत्थर है मैंने विस्तृत पृथक भावे धातु से विवेक बनता है पृथक करना अपने को और प्रकृति अंश को पृथक करना इसको अति दृढ़ होना चाहिए विवेक रूपी पत्थर में घिसना होगा यहां हाँ, बाह्य पत्थर में नहीं घिसा जाएगा विवेक प्रकृति पुरुष को अलग करने के जो पत्थर है यही विवेक बोलते हैं इसमें घिसा हुआ हो ऐसा जो असंग शस्त्र होगा अपने को असंगता बनाना इसके द्वारा काट करके कहा अब वाक्य पूरा नहीं हुआ आधा में क्रिया लगा दिया है काट करके आगे क्या करना अब आगे की बात बोलते हैं ये आगे की बात कहना है ठीक है मेरा उद्धृत्य ये कहा था भाष्य के अंतिम में विवेकाभ्यास अस्मन विशित स्थित्वा इसको काट करके ऐसे दृढ़ असंग से काट कर संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य कहा था संसार रूपी जो वृक्ष को मूल के सहित जड़ के सहित का मान इसको मूल होता प्रकृति अज्ञान प्रकृति उसके सहित उखाड़ करके पहले काटना उसके बाद उखाड़ देना जड़ भी उखाड़ देना तो वृक्ष काट भी दिया जड़ रहने से फिर अंगुरित होने की संभावना है जड़ भी उखाड़ देना फिर अंगुरित होने की संभावना नहीं यही कहा इसलिए दो दो क्रिया लगा दी छित्वा और उद्धृत बोला है असंग सतरण छित्वा आगे क्या करना छित्वा आगे क्या करना अमुक करके क्या करना तो आगे करने वाली बात बताते हैं उद्धृत क्यों कर्तव्य मृतिका में कहा इसको उखाड़ करके संसार वृक्ष को मूल बीज के सहित उखाड़ कर आगे क्या करना कर्तव्य क्या रहेगा उसका उसके बाद कहते संसार वृक्ष उखड़ जाए बिल्कुल मैं शरीर में हूं मेरा शरीर हो जाए उसके बाद वो जो स्थान है अपना प्राप्त स्थान उसको ढूंढना चाहिए मैंने संसार से पूर्ण विरक्त होने के बाद ही उसको ढूंढना चाहिए पहले ढूंढने से नहीं मिलेगा उस स्थान अन्वेषण तब करना चाहिए उसका जो यदगत्वा निर्वर्तन थे कहने वाले हैं जो जाने वाले लौटता देवस्थान तब उसका अन्वेषण करना चाहिए माने वैराग्य के बिना अध्यात्म में जाना संभव नहीं विषयों से वैराग्य के बिना अध्यात्म में जाना हो आत्मा पर पहुंचने के यदि कोई साधक चाहता हो तो वैराग्य और बोध दोनों चाहिए परोक्ष ज्ञान भी चाहिए जहां परोक्ष ज्ञान हो और वैराग्य हो यही साधन होते हैं वैराग्य बोधौ पुरुष से पक्षवत पक्षो बीजानी ही विचक्षण तुम विभुसुरम में कहा है वैराग्य और ने अपरोक्ष ज्ञान नहीं परोक्ष ज्ञान शास्त्रादि के द्वारा सुना है सुनने के बाद पता लगा आत्मा ऐसा है यह है सुना है सुना है और विषयों से पूर्ण वैराग्य भी है तब साधना शुरू होगी आपकी अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन होगी वेदांत श्रवण तब सफल होगा वैराग्य हो परोक्ष में विश्वास हो परोक्ष विश्वास ईश्वर तो का हमने देखा नहीं क्योंकि विश्वास करते कि नहीं करते करते हैं इसी भूवन के बाद इसी धट के बाद अमेरिका हमने किसी ने नहीं देखा क्या उन देशों को जो हमने देखा वो तो देश को मानते कि नहीं मानते मानते हैं क्यों वहां जाकर के आए हुए व्यक्ति ने हमें बताया विश्वास है उस व्यक्ति की बातों में विश्वास करते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी शास्त्रों के बातों में विश्वास करना होगा तो परोक्षीराम होगा परमात्मा है अध्यात्म शास्त्र बोलता है तो विश्वास करे उसके बाद वैराग्य विषयों से वैराग्य दो होना चाहिए साधन तभी आगे बढ़ेगा साधन तो यही करना है जब संसार वृक्ष को उखाड़ दिया वैराग्य के द्वारा तब आगे उस पद को ढूंढना चाहिए कहते हैं स्थान तो प्रकाश रूप स्थान है प्रकाश है स्वयं प्रकाश स्थान वह पद कहा जाता है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानुवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे ततः तत्पश्चात संसार वृक्ष को उखड़ने के पश्चात जो असंग रूपी शास्त्र के द्वारा काट दिया और जड़ भी उखाड़ दिया उसके पश्चात तथा का तो उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गी तत्पम उस पद को अन्वेषण करना चाहिए पर तो मैंने प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसका अन्वेषण करना मैंने वैराग्य के बल पर संसार वृक्षों को काट करके उखाड़ दिया उसके पश्चात वैराग्य चाहिए पहले परोक्ष ज्ञान है पहले तब तक तो परोक्ष ज्ञान बिना तो होगा नहीं संसार में अनित्य दोष वैराग्य भी नहीं आएगा लोलुपता रहे परमात्मा है ऐसा समझे विश्वास करे तो वैराग्य आएगा तथा उसके पश्चात उस संसार वृक्ष को काट करके उखाड़ने के पश्चात तत्पदम पारिवारिक तत्व उसी पद को अन्वेषण करना चाहिए ढूंढना चाहिए मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं पद माने प्रकाश स्वरूप जो पद है प्रकाश ज्ञान स्वरूप है जो पद प्रकाश उसको ढूंढना चाहिए यशमिन गता यशमिन पदे गता जिस पद में पहुंचे हुए लोग हैं न निवर्तन भूया भूया पुनः संसार के लिए दोबारा वापस नहीं होते जिस पद में पहुंच गए आत्मभाव में पहुंच गए जो लोग भूया मैंने पुनः अव्यय है हाँ, संसार आय निवर्तनती कहा वापस नहीं होते निवर्तनती में जो मृत्युवर्तन है धातु है आत्मय पर ही धातु है या परस्मय कर, करके रखा हुआ है यह छांदस प्रयोग है निवर्तनते बनते आगे श्लोक में आएगा यदगत्वा न निवर्तनते तब धाम परम हुआ ठीक बोल रहे हो आत्मनिपद में प्रयोग धातु आगे श्लोक में आएगा दत्तवास है सूर्य इत्यादि कहा है तो यहां पर निवर्तनती है छंद नहीं बन पा रहा था क्यों यदि आत्मनिपद के एकार आ जाता है एकार आने पर छंद नहीं मिल रहा था वहां गुरु हो जाता है या लघु चाहिए था इसलिए निवर्तनती कहा हुआ है स्थिति प्रयोग के लिए व्याकरण में सूत्र होते हैं व्यक्त बहुलम कुछ कुछ स्थान में विपरीत हो जाता है किंतु मानना पड़ेगा वो पहले वाला जो होना चाहिए वही मानना पड़ेगा स्थिति ऐसी है व्यक्ति बहुत सूत्र है तो न निवर्तन वे निवृत्ति नहीं होती वापस नहीं होते कहा वो संसार के लिए वापस नहीं होते जहां पहुंचने पर उस पद को अन्वेषण करना चाहिए कहा तो क्या मानना होगा तमे बचाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिद्धा यत प्रसिद्धा पुराण प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी जिस परमात्मा से यथा मान जिस परमात्मा से जिस पद से प्रकाशमय पद से प्रवृत्ति प्रसिद्धा इस जो संसार की प्रवृत्ति जहां से शुरू हुई है फैली है प्रसिद्ध बने फैली हुई है अत्यंत पुरानी है प्रवृत्ति आज की नहीं है पुराना बोलता है ना यहाँ होता पुराने पुरानी कहा पुरानी है अत्यंत पुरानी प्रवृत्ति है ये जिस आत्मा से ये प्रवृत्ति फैली हुई है उसी को ढूंढना चाहिए कहा यथा प्रवृत्ति प्रतिष्ठा पुराण जिसके ये प्रवृत्ति जिस आत्मा से यथा पंचमी है जिस आत्मा से पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है अनादिकालीन प्रवृत्ति है ये फैली है कमे बचा आद्यम पुरुषम प्रवते उसी में आद्य पुरुष आदो भवम आद्यम सबसे पहले वो पुरुष है संसार बाद में है उसी के मैं शरण में हूं इस तरह से शरणागति की ओर जाना चाहिए उस पद को प्राप्ति के लिए कहा शरणागति मैं उसी के शरण में हूं क्यों लोकेशन आदि को छोड़ा हुआ है लोकेशन पुत्रेशा वैराग्य का कारण छोड़ा हुआ है परमात्मा है उसके जानने से आवागमन से मुक्त हो जाता है ऐसा सुना भी है इसलिए जानने के लिए शरण में हूं कहा मैं उसी के शरण हूं शरणागति चाहे द्वैत भाव से हो चाहे अद्वैत भाव से शरणागति जरूर चाहिए उसके बिना नहीं होगा शरणागति ही चाहिए हम जो भी योगादि करते हैं कोई भी हम सफल नहीं हो पाते कहीं भी अंतिम में जाके सर्वागति समर्पित होना ये कर्तव्य हमारे शेष रह जाता है जब तक शरीर में खून है तब तक हम दौड़ भाग करते हैं यहां वहां घूमते हैं क्योंकि तो आगे घूमना बंद हो जाएगा फिर शरणागति छोड़कर कुछ नहीं कर सकता स्थिति ऐसी है भाषा कहते हैं तथा हमारे पश्चात संसार वृक्ष को उखड़े करके फेंकने के पश्चात असंग शास्त्र के द्वारा काट दिया जड़ भी उखाड़ दिया उसके पश्चात परम वैष्णव जो व्यापक पद है विश्व व्याप्त धातु है इसे विषय से प्रणाली सूत्र उसके द्वारा विष्णु शब्द बनता है व्यापक धातु के अर्थ से व्यापकता आती आती है विष्णु धातु व्यापक अर्थ में है विवेष्ट चराचरम जगत विष्णु ऐसे अर्थ है सारे संसार चर अचर जगत को सब घेर के बैठा हुआ है उस तत्व को विष्णु कहा जाता है व्यापक को विष्णु कहा जाता है पदम पदम मान वैष्णवम जो व्यापक पद है ना व्यापक जो परमात्मा पद है उसी को तब अन्वेषण करना चाहिए तत्पदम परिमार्गितव्य होगा उस पद जो वैष्णव पद है उसको अन्वेषण करना चाहिए परिमार्गितव्य माने परिमार्गण माने अन्वेषण ज्ञातव्य अन्वेषण करना चाहिए जानना चाहिए संसार वृक्ष को उखाड़ने के बाद उस पद को जानना चाहिए अप्रोक्ष भाव से जानना चाहिए स्थिति है यशमिन पदे गता जिस पद में पहुंचे हुए लोग हैं जो मुक्त पुरुष हैं जिस पद में पहुंच चुके हैं आत्मभाव में पहुंचे यशमिन पदे गता जिस पद गए मैंने पद गता मैंने प्रविष्टा यशमिन गता निवर्तन हुए है गता मैंने प्रविष्टा जिसमें प्रविष्ट हो गए आत्मभाव में पहुंच गए जो लोग ज्ञान ज्ञान रूपी साधन के द्वारा न थी कहा उसकी निवृत्ति नहीं होती ना आवर्तन थे भाष्यकार ऊपर से व्याख्या कर देते हैं ना आवर्तन थे आवृत्ति नहीं होती होती मान भूया पुनः संसार आए संसार के लिए दोबारा आवृत्ति नहीं होती अवरोहण नहीं होगा गए तो गए बस न तदभाषते सूर्य न शशांको न होगा यद गत्वानंद वर्तनते तद धाम जहां कोई प्रकाश आदि की गति नहीं है जहां ऐसा पद होगा माने आत्मा को कोई बस, कोई भी प्रकाश प्रकाश नहीं कर सकती भौतिक प्रकाश है भौतिक पदार्थ को प्रकाश करेंगे वही मेरा धाम है मेरा थान है ऐसा बोलते हैं भगवान अपना पता देते हैं आगे बोलने वाले हैं प्रथम परिवार के साथ उसको किस प्रकार से अन्वेषण करना कैसे ढूंढना उस पद को प्रथम परिवार के तत्व प्रश्न उठा कैसे परिवार करना मैंने कैसे ढूंढना उस पद को अन्वेषण कैसे करें तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धि प्रसिद्धा पुराण यही है ढूंढने का ताप सत्य यही है तमेव यह पद शब्द न होता जिसको पद शब्द से पहले कहा था उसको तम शब्द से उसी को लेना है उसी को पहले तथा पदम तत्परिमा पद शब्द से कहा था अभी तम शब्द से उसी को तृप्तियां लेना है उसी को ढूंढना शरण में हो कहना है उसी के शरण में कहना है तमेव यह पद शब्द ने उठता पहले जो पद शब्द से द्वारा कहा गया था इसी श्लोक में आदौ आद्यम मैं आदो भवम आद्यम दिगादि को यह सूत्र है सबसे पहले जो होता हो उसको आद्य बोला जाता है आदो भवम आदि यद प्रत्यय लगा है प्रत्युत लगा आदि शब्द से यद लगा के आद्य बनाया हुआ है आदो भवम आद्यम भवम पुरुषम प्रवृत्ति सबसे पहले जो पुरुष होगा उसी के मैं शरण में हूं बस हाँ, बाध्य तो संसार बाद के पश्चात है बाद में है उनके शरण में नहीं हूं देहादि सब इष्ट आदि जो पदार्थ है मित्र आदि जो भी बाद में होते हैं उनके शरण में मैं नहीं हूं मैं उसी परमात्मा के शरण में हूं यही है आदो भमाद्यम पुरुषम प्रपद्ये प्राप्त होता हूं उसी के शरण में हूं इति एवं परिवार इस प्रकार से माने अन्वेषण करना चाहिए माने अन्यत्र कहीं भी आशा छोड़ करके परमात्मा में ही एक अन्वेषण करना उसी भाव में रहना उसी के शरण में रहना कहीं अन्य शरण नहीं समझना हाँ, डॉक्टर बचाएगा वो बचाएगा वो बचाएगा ये मेरे हैं मेरे पास धन है जन है ये कोई काम आने वाले नहीं है अंतिम स्थिति ऐसी है माने की दमन तत्सरणत है परिवार में उसके उसी में शरण शरणागति होकर के उसका अन्वेषण करना चाहिए वही चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए वही मेरे रक्षक है ये समझना चाहिए इस भाव में जाना चाहिए कोशव कौन है वो वो पुरुष कौन है वो तो कहते पुरुष है वो पुरुषम प्रबद्ध किसको प्राप्त कर रहा है वो शरणागति किसके लेना पुरुष पूर्णात् पुरुष है पूर्ण है व्यापक है इसलिए पुरुष कहते हैं उसको आत्मा को पुरुष का व्यापक होने से कोशव पुरुषा इति उच्च कोशव पुरुष इति उच्चते हैं कौन है पुरुष से प्रश्न उठा तो उत्तर देते उच्चते से उत्तर देते हैं यतः प्रवृत्ति प्रतिष्ठा पुराणी जहां से संसार की जो प्रवृत्ति हो रही ना हाँ, फैली हुई प्रवृत्ति संसार की जिससे फैली हुई है उस परमात्मा से फैली है जैसे रज्जु से सर्पादि फैल जाते हैं सर्पादि नाना प्रकार भाषा है कि सर्प ही नहीं होता दृष्टिभेद हो जाता अज्ञान की कई शक्तियां हैं कई अज्ञानी बैठे होंगे एक को सर्प दिखता हो और दूसरे को माला दिखे तीसरे को लाठी दिखे दंड दिखे और चौथे को देखा जल की धारा जल बहरा अलग देगा और पांचवा मानव भूषित्र न जाने कितनी कल्पना हो जाती है आपस में लड़ जाते हैं उस काल में तो झूठ बोलता है तू झूठ अंत में जाते सब झूठ बोलने वाले बन जाता है स्थिति ऐसी जो वस्तु दृष्टि में रज्जु समझा सब झूठ बोल रहे थे एक दूसरे को झूठा करके गाली गलोच कर रहे थे पहले तो यह पुरानी जो प्रवृत्ति है जिससे फैली हुई है उसी के शरण में मैं हूं ये बात करना कहा यथा मन अस्मात पुरुषार्थ संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसिद्धा जिस पुरुष से संसार की जो माया वृक्ष है ना कौन से वृक्ष कल्पना रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति फैली हुई है जिस पुरुष से प्रसिद्धा मान निश्चितता निकली हुई है यही है जैसे माया रूपी वृक्ष निकला है जिस परमात्मा से कैसे निकले कहते हैं ऐन्द्रजालिकादि व माया ये दृष्टांत है जैसे जादूगर से जो माया निकलती है दर्शकों के सामने रूपांतर में दिखा देता है ठीक इस प्रकार है एक जादूगर ही होता और कुछ नहीं होता वहां बैठा हुआ एक जादूगर होता है किंतु हमारे सामने बहुत कुछ पदार्थ दिखाई देता है तो जादूगर ही रूपांतर में दिखाई देता है ठीक इस प्रकार जिससे प्रवृत्ति हुई है इस प्रकार ऐन्द्रजाली का इंद्रजाल दिखाने वाले को ऐन्द्रजाली कहते हैं जादू दिखाने वाले को ऐन्द्रजाली कहा गया जादूगर को ऐन्द्रजाली इब माया जैसे वो माया दिखाता है क्या दिखाता है वस्तु नहीं दिखाता माया वस्तु है ही नहीं वहां उसके पास कुछ भी नहीं है यदि होता तो बाद में एक एक रुपये सिक्का क्यों मांगता कटोरी में इतना बनाने के सामर्थ्य होता जैसा बनाता लोटों की गड्डी की गड्डी बना के दिखा देता है बाद में एक एक रुपये के लिए कटोरी में मांगने लग जाता है वस्तु नहीं था स्थिति ऐसी है ऐसे ही है जादूगर से जैसे माया दिखाई जाती है उस प्रकार फैली माया फैल जाती है इस प्रकार ये जिस पुरुष से एक संसार रूपी वृक्ष जो माया रूपी वृक्ष फैला हुआ है फैल गए यही उसी पुरुष के मैं शरण में हूं मैंने माया के शरण में नहीं हो मायावी के शरण में ये कहना है माया के शरण में नहीं मायावी जो होगा माया वाला जो परमात्मा बड़ा जादूगर मैं उसके शरण में ये समझना है कैसे तो कहा पुरानी बहुत पुरातन माया है ये हमारे पूर्वजों ने इसी को देखा हम भी देख रहे हैं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी यही देखेंगे इसी को देखेंगे और कुछ नहीं देखना है स्थिति है पुरानी मानी चिरंतनी बहुत पुरानी है ये माया आज नई उत्पन्न नहीं है सबको नए नए जैसे लगे कि दो तो तो पुरानी है स्थिति ऐसी है कहा टीका में कहते हैं पश्चात अश्वत्थात ऊर्धम व्यवस्थित पश्चात अश्वत्थात जो अश्वत्थ संसार से ऊर्धम व्यवस्थितम यही है तो उसका अर्थ कहते ततः माने उस, उसके पश्चात बोला पश्चात माने क्या अश्वत्थ जो वृक्ष है ना संसार वृक्ष उससे ऊर्धम व्यवस्थितम उस पुरुष के सर्व में जाना चाहिए उसके बाद जो उत्कृष्ट पुरुष है उसको किम तत्पदम वो पद शब्द से कहा गया क्या है ततः पदम तत्परिमार्ग तब उस पद को अन्वेषण करना चाहिए ढूंढना चाहिए कहा वो क्या है किम तत्पदम यद अन्विषय ज्ञातव्य जिसको अन्वेषण करके जानना चाहिए कहा हुआ है तो पौन है वो पद क्या है उसको उत्तर दिया यशमिन गता न निवर्तन वो पद है जहां पहुंचने वाले फिर वापस नहीं होते वो पद ऐसा पद है आत्मभाव में पहुंचने के बाद संसार में नहीं आ सकता है सुषुप्त तक गया हुआ व्यक्ति संसार में आ जाता है संसार के अंतर्गत ही हो किंतु ऊपर उसके ऊपर की अवस्था आत्मभाव में पहुंचा हो देहादि जो से ऊपर स्थिति में हो फिर संसार के लिए शरीर आदि की धारण करने के लिए नहीं आता ये कहा यशमिन कथा अनिवर्त अनुभूया ही कहा था उसको पुरुष कहा हुआ है तमेव त्याजम पुरुषम प्रबंधक उसी पुरुष के मैं शरण में हूं आदि में सबसे पहले होने वाला पुरुष का शरण में कहा पुरुष माने क्या यहां ये न सर्वम पूर्णम अथवा ये न सर्वम पूर्णम पुरुष व सयानम पुरुषम दो गुण है जिससे सबके सब पूर्ण है व्यापक है मान अधिष्ठान से ही सर्पादी व्याप्त हो जा व्यापक हो जाते हैं उसके अस्तित्व मिलता है इसी प्रकार संसार के अस्तित्व परमात्मा से ही है परमा अस्थि भांति प्रिय परमात्मा का स्वरूप है उस कोई भी पदार्थ होगा अस्थि भांति प्रिय होगा ही होगा उसी से वह जीवित है वो अपना रूप से जीवित नहीं वो नाम रूप से जीवित नहीं पदार्थ कोई भी प्रत्येक वस्तु में पांच अंश होते हैं अस्थि भांति प्रिय कोई भी वस्तु को अस्थि है बोलते हैं और भांति प्रकाशित हो रहा है देख रहा है वस्तु है ज्ञान का विषय बना हुआ है और प्रिय भी किसी न किसको प्रिय है यहां तक विष्टा आदि भी प्रिय है मनुष्य को नहीं है तो माने श्वान आदि को है कुत्ते आदि को प्रिय है कोई पदार्थ अप्रिय नहीं होता आपको प्रिय लगे दूसरे को अप्रिय नहीं होता वो प्रिय हो जाता किसी ऐसा है तो ये तीन स्वरूप तो परमात्मा अस्थिभाति प्रिय परमात्मा का स्वरूप होता है संसार में कोई भी वस्तु में और नाम और आकार प्रत्येक वस्तु का एक नाम दिया जाता है कोई ना कोई नाम होगा कोई नाम नहीं वो सर्वनाम से बोला जाता है वह यह इत्यादि सर्वनाम से बोला जाता है तो नाम है और आकार ये दो विद्या है यदि नाम रूप दोनों को हटाएंगे तो सर्वत्र परमात्मा दृष्टि कर सकता है सर्वत्र है परमात्मा यही है यह न सर्वम पूर्णम ये कहा जिसके द्वारा सारे के सारे पूर्ण हैं पूर्ण बने हुए हैं और तम पुरुषो शयानम अथवा वो जो पुरुष है मान पूर्व माने शरीर में सोने वाला यही पाया जाता है इसलिए शरीर में सोने वाला कहते ये भी पूर्ण है पूर्व माने शहर होता है शहर में अनेक प्रकार के सामग्री पाए जाते हैं कोई भी पदार्थ विषय पर यहां भी अनेक प्रकार की सामग्री है टट्टी है मूत्र है रक्त है हड्डी है कच्चा मांस है बहुत कुछ है यहां सामग्री है इसलिए इसको पूर्व कहते हैं पुरुषो सयानम बा कहा था पूर्व में सहने सहन करने वाला माने यहां उपलब्ध स्थान यही है उपलब्ध स्थान को लेकर यद्यपि सर्वत्र है वो किंतु अंतिम में उपलब्धि अहम ब्रह्मास्म वृत्ति यही बननी है कभी भी बनना होगा इस जन्म में अगले जन्म में अनंत जन्म में जब भी जाग बनना होगा अम ब्रह्मास्म वृत्ति अंतकर्म में बनना अंतकर्म यही शरीर के भीतर है इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है पूर्व पूर में सहन करने वाला है पूर्व मान शरीर में सहन करता है या उपलब्धि होती है जैसे गाय का दूध पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ निकलता स्तन से श्रृंगादि से दूध नहीं निकलेगा यदि भी व्याप्त है ऐसे परमात्मा भी पूर्ण व्यापक है संसार में पूरे के पूरे व्याप्त है शरीर में पूरा व्याप्त है किंतु उपलब्ध स्थान हृदय है हम मान ब्रह्मास्त्र वृत्ति यही बननी है मन में बननी है हृदय बने हृदय मन वही बनना है इसलिए इसको पुरुष शयन होगा पूर्व पर सहन करने वाला ये भी अर्थात पुरुष पुरुष शब्द का दो व्युत्पत्ति ये न सर्वम पूर्णम तत्पुरुषम अथवा पूरी शयानम पुरुषो शयानम पुरुष पुरुषम अथवा पूर्व में सहन करता है ये इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है आत्मा को उसी के शरण में मैं हूं ऐसा मैं एक ही शरण देखे जैसे नदी में कोई व्यक्ति डूबता हुआ हो पानी पी रहा हो थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगा हो एक ही उसके शरण होता है किनारा पहुंचे किस तरह से और कोई इच्छा नहीं होती उस काल में खाने की इच्छा नहीं पीने की इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं एक ही इच्छा सता रही है इसे ही इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए उस आत्म प्राप्ति के लिए बात इतनी है उसी के शरण में हूं एक आशयान पुरुषम प्रपद्य मन शरणम गतोष्मी प्रपद्य का अर्थ मैं शरण में गया हुआ बाहर अन्य के शरण में नहीं हूं विपर्तवाद अनुरोधी नम दृष्टांत रहा कैसे ये प्रवृत्ति हो रही है संसार की अतः प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी कहा हुआ जिससे प्रवृत्ति हुई सृष्टि फैली हुई कहा विपर्तवाद का अनुसरण करके लिया किसके परिणाम बाद के नहीं आत्मा बिगड़ करके संसार बना ऐसा नहीं जैसे दूध बिगड़ के दही बनता है ऐसा नहीं समझना विवर्तवाद है जैसे कि वैसे ही है अज्ञान से भाषणा जैसे रज्जु में सर्प देखना कहा है यस्तात्विको यथाभावो परिणाम उदारित उदीरित अतात्विको यथाभावो सब विवर्त उदीरता ऐसा आया है विवर्त सब उदीरता है जो तात्विक अन्यथा भाव होगा अन्यथा भाव दोनों में होता है परिणाम में होता है विवर्त में होता है माने अन्य प्रकार हो जाना पहली अवस्था को से विपरीत अवस्था में जाना अन्यथा भाव तो परिणाम में क्या होगा दूध का दही बनना वास्तविक आएगा दूध का दही बनना वास्तविक परिणाम हो गया अन्यथा भाव हो गया अब दूध नहीं बनना उसका दही बन गया बन गया वास्तविक अन्यथा भाव हो गया अन्यथा बने अन्य प्रकार प्रकार अर्थ अर्थाल प्रत्यय होता है तो अन्यथा भाव वो तात्विक है वास्तविक है उसको परिणाम कहा जाता है अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त सुदीरता अतात्विक जो अन्यथा भाव हो वास्तविक नहीं है काल्पनिक अन्यथा भाव होगा रज्जु में सर्प बनना काल्पनिक अन्यथा भाव है दूध में दही बनना जैसा नहीं है वहां तो दूध बिगड़ा हुआ है दही बन गया यहां कैसा होता है रज्जु बिगड़ी नहीं केवल सर्प बासता है यह अतात्विक अन्यथा भाव है इसको विवर्त कहा जाता है वैसे परमात्मा जगत बनने बनते समय परमात्मा कुछ खरोज नहीं आएगा कुछ बिगड़ेगा नहीं परमात्मा जो का त्यों रहेगा जगत भाषता है केवल यही है ये कहा यहां विवर्त बाद अनुरोधिनम दृष्टान्तवाद विवर्तवाद का अनुरोधी दृष्टान क्या है जैसे ऐन्द्रजाली का माया कहा था ऐन्द्रजाली के द्वारा माया दिखाई देती है वो तो ऐन्द्रजाली वास्तव में वो पदार्थ बनता नहीं है केवल भाषता है उन पदार्थों के रूप में भाषता है दर्शकों के सामने जो दिखा दिखने वाले होते हैं भाषता है केवल पदार्थ होते नहीं ये दृष्टांत विवर्तवाद का अनुसर किया था ऐन्द्रजालिका आदि वो माया ये कहा था जैसे जादूगर को इंद्रजालिक बोलते हैं इंद्रजाल दिखाने वाले इंद्रजाल वाले जादू है इंद्रजाल वाले को इंद्रजाली का बोला जाता है तो उससे जैसे माया निकलती है ना ठीक इस प्रकार संसार निकला हुआ परमात्मा से ना है नहीं स्वरूप कुछ भी नहीं है ऐसा देखने में है मिलता नहीं है ऐसा ये कहा इसलिए इंद्रजाली के याद एवं आया यह दृष्टांत दिया था विवर्तवाद के अनुसार हमारे परमात्मा से जगत निकलना माने विवर्तवाद है स्थिति आगे टीका में कहते हैं परिमार्ग परिमार्ग पूर्वकम वैष्णव पदम गच्छलाम अंतरंगाणी आकांक्षा पूर्वकों कथित दिखाते देखो दो प्रकार के साधन होते हैं एक बहिरंग साधन एक अंतरंग साधन अंतरंग साधन दिखाते हैं आगे कैसे व्यक्ति होना चाहिए इस जग मानी जीवन में किस तरह का व्यवहार होगा उसका कैसा रहता हो व्यक्ति जो परमात्मा के पथिक बना हुआ है तमेव चाहते हम पुरुषम प्रपत्ति के शरण में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या स्थिति होती है यहाँ के व्यवहार कैसा रहता है बोल रहा है परिमार्ग पूर्वक अन्वेषण पूर्वक परमात्मा जो वैष्णव पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उस व्यापक तत्व में जाने वाले पद गचना वहां पहुंचने वाले जो व्यक्ति होते हों अंतरंगाणी आकांक्षा पूर्वक अंतरंगाणी साधना है अंतरंग जो साधन है भीतर में होने वाले साधन है बाह्य साधन नहीं यज्ञादि साधन नहीं यहां अंतरंग साधन भीतर अपने शरीर के भीतर ही साधन उनके होते हैं आकांक्षा पूर्वक जिज्ञासा पूर्व कथन करते हैं अंतरंग साधक कैसे होते हैं यदि परमात्मा के पथिक हो तो साधन कैसा उसके पास होगा विद्यमान अपने पास ही है बाहर से लाने की जरूरत नहीं है ऐसे साधन उनके पास ये कथन करते हैं कथम इत्यादि कथम भूता तत्पदम गच्छन्ति प्रश्न उठा यही है किस प्रकार बने हुए लोग किस प्रकार के होते हुए लोग चेहरा कैसा होता उनका उस पद को ज्ञान प्राप्त करने वाले कैसे लोग होते हैं प्रश्न उठा इति उच्चते ग्रहण से आगे भगवान स्वयं उत्तर देते हैं एक कहना है निर्माण मोहादित संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संजयर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमद्वयम् तत् निर्माण संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय रक्षंत्य मूढ़ा पदम अभ्ययम तत् इस श्लोक से हम अपने को देख सकते हैं हम किस स्थिति के हैं परमात्मा के पथिक हैं अथवा जगत के पथिक हैं हम अपने को पहचान सकते हैं निर्माण मोहा मानम च मोह मानमोह निर्गत निर्गत मानव हो ऐसा शांति निर्माण हुआ मान और मोह अज्ञान देहादि में मान अभिमान हम्म। मेरे समान कौन है मैं बहुत कुछ हूं समझना अभिमान और मोह माने अज्ञान अविवेक ये दोनों निकल गए जिससे उसको निर्माण वह कहा गया है जिन लोगों के दोनों नहीं है शरीर आदि में अहम अभिमान भी नहीं है और माने अविवेक भी नहीं है विवेक अवस्था में है इस लोगों को ऐसे लोगों को निर्माण भाव यही होते हैं उस पद के शरण में रहने वाले परमात्मा के शरण में रहने वाले लोग शरीर आदि में मान सम्मान के भूखे नहीं होते और अविवेक भी नहीं उनके पास हो नहीं होता विवेक है उनके पास एक एक विशेषण दूसरा विशेषण जित संग दोषा संग एवं दोषा संग दोषा संबंध ही दोष है कहीं भी संबंध करो आगे जाकर के परेशान होना है संग दोष जीता संग दोषा ये ना जीता है संग दोष को जिन्होंने कहीं भी संग नहीं चिंता शरीर आदि में कोई संग नहीं आसक्ति नहीं स्थिति है एक ही आसक्ति परमात्मा में अन्यत्र नहीं जित संग दोष है वो लोग ऐसे होना चाहिए अध्यात्म नित्य आत्मा में ही निरंतर बैठे हुए हैं आत्मभाव में बैठे हैं अध्यात्म आत्मचर्चा में बैठे हैं तत्चिंतनम तत्कथनम इत्यादि उसी का चिंतन उसी का कथन उसी का श्रवण उसी में लगे हैं अध्यात्म विनिवृत्त कामा कामा इच्छाएं जितने भी इच्छाएं हैं सब निवृत्त हो गए विशेष निवृत्त भी और डी दो उपसर्ग लगा दिया है विनिवृत्त निवृत्त विशेष रूप से निवृत्त हो गए इच्छाएं जिसकी लोकेश वित्तेश पुत्र कोई लोक की इच्छा नहीं स्वर्गादि लोक की इच्छा नहीं है भूरादि लोक की इच्छा नहीं भविष्य में प्राप्त जो लोग हैं संतान आदि की इच्छा नहीं धन आदि की इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं निरीह निरीक्षा है जो सारे विशेष रूप से निवृत्त हो गए काम जिसके जैसे भूख की इच्छा थी भोजन मिला थोड़ी देर के लिए इच्छा समाप्त हो गई दो घंटे के बाद फिर इच्छा होती है तो विनिवृत्त नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए वृत्त हुआ ऐसा नहीं हमेशा के लिए वृत्त हो गई इच्छा कोई इच्छा इच्छा मात्र का भाव लोक प्राप्ति की इच्छा भी नहीं संतान आदि की इच्छा भी नहीं धन आदि की इच्छा भी नहीं ऐसे लोग होते हैं द्वंद्व द्वंद्व कहते हैं सुख दुख आदि को द्वंद्व कहते हैं एक के बाद एक के बाद एक होने वाले जैसे दिन रात आते रहते जाते हैं ना सुख दुख भी जीवन का दो पहलू है एक जाता है एक आता है एक जाता है एक दिन रात के समान है इनको द्वंद्व कहते हैं जरावरण आदि द्वंद्व स्थूल शरीर में है और सुख दुख आदि द्वंद्व मन में है अंतकरण में है भूख प्यास आदि द्वंद्व प्राण में है इनसे विशेष रूप से मुक्त हो गए द्वंद्व मुक्त सुख दुख संग्रह जिसको सुख दुख कहा जाता है इत्यादि नाम से द्वंद्व से मुक्त है सुख दुख भी द्वंद्व है हमेशा जीवन में पूरा सुख भी किसी को नहीं होता कितने भी धनी हो कोई भी हो माने निरोगी हो फिर भी कुछ ना कुछ निमित्त से दुख आएगा उसके जीवन और आया हुआ हमेशा रहेगा भी नहीं चला जाएगा जैसे सुख आया बिजली के समान चमका चला गया ठीक इस प्रकार दुख ही हमेशा रहने वाला नहीं है आने जाने वाले हैं आगमा पाई या सभी तो द्वंद्व विमुक्ता विशेष मुक्ता विमुक्ता विशेष रूप से मुक्ता हो गए द्वंद्व से ऐसे लोग सुख दुख नाम के जो द्वंद्व है उसके द्वारा विनिवृत्त हो गए कहा मुक्त हो गए ऐसे अमूढ़ा मैं जो अविवेकी नहीं अज्ञानी नहीं ऐसे लोग तद पदम तद अव्ययम पदम गच्छन्ति जो अविनाशी पद है ना अव्यय पद अविनाशी पद उस आत्मा पद अविनाशी पद है उसको प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त करते हैं गच्छन्ति में गम धातु का प्रयोग गम धातु ज्ञान गति गमन तीन अर्थ में होता है यहां माने प्राप्ति यहां प्राप्ति अर्थ को उस को प्राप्त होते हैं ये कहा हुआ होता है भाष्य में कहते हैं निर्माण मोहा ये मूल का प्रतीक ले लिया मानस मोह स मानमोह द्वंद्व समास है मान और मोह को के मान मानमोह कहा जाता है तो वो दोनों मान मोह दीर्घतौ जिनसे निकल गया मान और मोह दोनों नहीं है जिस जिनसे निकल गया दोनों के दोनों उन लोगों को निर्माण मोह कहा जाता है यही है ते निर्माण मोह माने पहले द्वंद्व करना उसके बाद बहुबरी करना मान मोह वर्जिता उसको मान मोह परिचिता कहा जाता है मान मोह से रहित है जो लोग शरीर आदि में सम्मान भी नहीं चाहते हैं अविवेकित नहीं उनमें जित संग दोष दूसरा पद आया था उसका अर्थ कहते हैं संग एवं दोष है संग कर्मधारे समाज से संग दोष है संग ही दोष है सबसे बड़ा दोष संग है कहीं भी चिपक जाना इसके इसके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा समझना ऐसा समझ लो संग दोष संग दोष संग दोष जीता संगतोषो यही बहुबुरी समाज को कर्मकार पूर्व बहुबुरी करना है जीत लिया है संगतोष को जिन्होंने ऐसे लोगों को जित संगतोषा ऐसा कहा जाता है अध्यात्म नित्या तृतीय विशेषण है उनके तीसरा विशेषण है अध्यात्म नित्या परमात्मा स्वरूप आलोचना नित्या करते हैं निरंतर परमात्मा स्वरूप का ही विचार करते हैं वो लोग अन्य में नहीं लगे नित्य निरंतर उसी में चिंतन में है वो अन्य चिंतन नहीं विषय चिंतन नहीं परमात्म स्वरूप आलोचन का हाँ, परमात्म स्वरूप का चिंतन ही करना ही देते हैं जिनका उनको तत्परा तत्परायण है तत्परक है परमात्म परक है जो इनको कहा अध्यात्म नित्या आगे विनिवृत्त कामा है विशेषण निवृत्ता कामा यभ्य है विशेष तो मैंने निर्लय पर एक भी न बचे कोई इच्छा मात्र न रहे भौतिक जगत की इच्छा मात्र न हो विशेषत्व निर्लय विशेष का अर्थ निर्लय बी का अर्थ निवृत्ता निवृत्त हो गए काम माने ये काम माने इच्छाएं जितनी भी इच्छाएं थी सब समाप्त हो गए जिनके माने सारे इच्छाओं के मूल कारण तीन इच्छा होती है लोकेशन प्रत्येक किसी लोक के लिए इच्छा है लोक संबंधी इच्छाएं हैं उसमें फैल जाने इच्छा नहीं या धन संबंधी इच्छा है धन कई प्रकार के हैं अथवा संतान संबंधी इच्छा है ये तीनों में सारी इच्छाएं समावेश समावेश होती है इसलिए तीन इच्छाओं की चर्चा होती है साहब वित्तेषणा साहब बोलते रहते हैं मूल यही होते हैं सबका ऐसे शाखा प्रशाखा फैल फैल करके दुनिया भर की इच्छा हो जाती है तो विनिवृत्त काम ऐसा हम कहा निवृत्त हो गए कामना जैसी इच्छाएं सारी की सारी जिनकी ते विनिवृत्त काम ये लोगों को विनिवृत्त कामा कहा जाता है बहुरी है कौन होते हैं वो कहते ये तो सन्यासी ना जो कर्म त्यागी है सन्यासी है जो लोकेशणा वित्तेषणा पुत्र से रहित हैं उन्हीं को कहा जाता है विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता चौथे विशेषण पांचवें विशेषण है द्वंद्व माने प्रिया प्रिया विमुक्ता कहते हैं जो प्रिय और अप्रिय दो प्रकार के हमारे सामने पदार्थ आते हैं उन्हें मुक्त है इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं है जिनकी किम्मत नहीं बनाते पर माने ईश्वर स्थिति में जीवित रहते हो ये जो प्रिय और अप्रिय जीवों की अपनी कल्पना है जो मुझे प्रिय है दूसरे का अप्रिय है जो दूसरे को अप्रिय मुझे प्रिय है वो प्रिय है कि अप्रिय है क्या है वो कुछ भी नहीं कर सकते उसको अपने भावना के ऊपर है अपने दृष्टि के ऊपर है प्रिय और अप्रिय मनुष्य को जो प्रिय लगता हो पशुओं को प्रिय नहीं उनको घास प्रिय है मनुष्य को अप्रिय है तो प्रिय प्रिय बुद्धि जीवों ने कल्पना की हुई है ये ईश्वर ने नहीं बनाया वो ईश्वर स्थिति में प्रिय और अप्रिय से मुक्त है द्वंद्व में मुक्ता प्रियादि प्रियादि वीर विमुक्ता ये देर मुक्ता का अर्थ प्रिय प्रियादि से मुक्त है जो प्रिय अप्रिय है ही नहीं उनके दृष्टि में कोई भी सुख दुख संजय जो सुख दुख है ना ये द्वंद्व होते ही है सुख दुख ये भी जीव की कल्पना है सुख दुख की एक का सुख है दूसरे को दुख है स्थिति ऐसी होती है माने शत्रु को सुख है और आपको क्या होगा उस काल में दुख हो जाएगा शत्रु आराम से बैठा हो आपको दुख शुरू हो जाएगा और आपका दुख शत्रु को सुख है ये भी जीव सृष्टि है सारे ईश्वर ने नहीं बनाया सुख दुख ये सब जीव का काम है जीव सृष्टि में आते हैं तो परित्यक्ता द्वंद्व विमुक्ता का परित्यक्ता परित्याग कर दिया जिन्होंने द्वंद्व को परित्याग कर दिया मैंने मतलब दो बुद्धि समाप्त कर दी इसका अनिष्ट बुद्धि आदि समाप्त है जिनकी दृष्टि में उसको द्वंद्व विमुक्ता कहा जाता है माने उस परमार्थ के पथिक के लक्षण होते हैं ये पहचान होते हैं अंतरंग साधन होते हैं ये कहा परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढ़ा मोह वर्जिता जो मोह नहीं शरीर आदि में मोह नहीं है आदि में मोह नहीं है ऐसे लोग गच्छन्ति प्राप्त करते हैं अर्थ होता है जाते हैं नहीं वो जाना नहीं हुआ तो जाने का स्थान आई नहीं वो प्राप्त करते हैं क्यों गत्यर्थक धातु जितने ज्ञान गमन प्राप्ति ज्ञानार्थक ज्ञानार्थ में प्रयुक्त होता है और चल्यार्थ में प्रयुक्त होता है और प्राप्ति में यहां प्राप्ति है उस पद को प्राप्त करते हैं अर्थ होता है कौन पद है पदम अव्ययम अविनाशी पद है तद यथोक्तम पदम जो कहा हुआ पद है अव्यय पद को प्राप्त करते हैं अविनाशी पद प्राप्त करते हैं ये तो विनाशी है ये शरीर विनाशी है या नहीं आगे शरीर का ग्रहण नहीं करते ठीक है ठीक है कहते हैं मानो अहंकार देहादि में जो अहम बुद्धि आती है ना मैं हूं मेरे समान कौन है मैं ऐसा हूं ये हूं अहंकार इसको मान कहा गया निर्माण मोह यही मान शब्द करते शरीर में अहंकार है मोहस्तु अविवेक मोह माने अज्ञान जो दोनों अज्ञान में निकल गए अहंकार में निकल गया जिनका उनको निर्माण मोह कहा जाता है ठीक है अगर जित संगदोषा कहा था शत्रु मित्र सन्निध अपनी द्वेष प्रतिवर्जिता कहते ही है माने संगदोष जितना माने क्या है शत्रु और मित्र दोनों के दोनों एक साथ सामने हो सामने एक शत्रु एक मित्र है उसमें भेद बुद्धि नहीं अभेद बुद्धि है दिन में स्थिति है वो जित संग दोष ऐसे होते हैं शत्रु मित्र सन्निध अभी शत्रु और मित्र दोनों के सन्निधि होने पर सामने दोनों ही हों उस स्थिति में भी द्वेष प्रतिबद्ध शत्रु में द्वेष भी नहीं है और इधर प्रेम भी नहीं था मित्र में प्रेम भी नहीं है ऐसे को कहा जित संग दशा दोष जिता तत्परत्व <clears throat> अध्यात्म में आया था तत्परता कहा था यही अध्यात्म कहा था ना परमात्मा स्वरूप आलोचन नित्यापन तत्परा ऐसा कहा था तत्पर माने क्या है तो कहा सर्वाधिनिष्ठत्व परमात्मा के विषय में सुनना बोलना माने परस्पर विचार करना वही चल, चलता है जिनकी चर्चा चलती है आत्मा के बारे में अनात्म पदार्थ की चर्चा नहीं करते जो लोग अनात्म पदार्थ की चर्चा से कोई लाभ नहीं है दिन भर कोई कोई पानी को पीटता हो लाठी लेकर के क्या फल मिलेगा उसको मक्खन निकलेगा पानी को मत रहा पीट रहा दिन दुन धत पानी को पीटता रहा इसी प्रकार संसारी चर्चा से कोई भी हमारे तात्पर्य नहीं है हम परमार्थ के पथिक हैं हमें क्या लेना उसे मतलब इस तरह से तो तत्परता का था सर्वाधिष्ठा तो निरंतर जो श्रवण मनन निध्यास में लगे हुए उसमें निष्ठा रखते हैं ऐसे होते हैं जो लोग तो परमात्मा पद को प्राप्ति के योग्य बने हुए लोग ऐसे होते हैं अधिकारी सन्यासी रहा कहा हुआ है माने कौन ऐसे जित संग दोष आदि कौन होते सन्यासी होते हैं यथा कहा था द्वंद्व मुक्त द्वंद्व मुक्त कौन होते हैं यथया सन्यासी ने बोला था कर्म त्यागी तो कहा वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्व कर्माण तत्व वैराग्य संसार से वैराग्य है हमको चाहिए नहीं स्वर्ग आदि नहीं चाहिए पुत्र आदि नहीं चाहिए वित्त आदि नहीं चाहिए कुछ भी जरूरत नहीं ऐसा समझते हैं जो तो वैराग्य के माध्यम से ही सारे कर्म का त्याग होता वैराग्य द्वारा सर्वकर्म सर्व त्यक्त सर्वकर्माणा सन्यासी नहीं है वैराग्य उनके जीवन में सारे कर्म जो स्वर्ग आदि प्राप्ति के साधन कर्म अथवा पुत्रादि प्राप्ति के साधन कर्म विवाह आदि कर्म जो संतान के लिए अथवा दान आदि प्राप्ति के लिए जो कुछ करना हो ये सब त्यागा है जिन्होंने क्यों वैराग्य उनके जीवन में इन सभी से वैराग्य हमें नहीं चाहिए आदि शब्द ना प्रिया प्रियादि में आदि शब्द आया है द्वंद्व विमुक्ता वे द्वंद्व माने प्रिया प्रियादि भीर आदि लगा हुआ है तो आदि से क्या लेना कहा तद हेतु कर उसके साधन प्रिया और प्रिय के साधन उसको ग्रहण करना उससे भी विरक्त है मुक्त है माने द्वंद्व से भी मुक्त है द्वंद्व के जो साधन है उसे भी मुक्त है मोहवर्जित तत्व मुक्त हेतुतः संजात संदिग्ध मोहवर्जिता कहा था तो विमुक्ता कहा था मोहवर्जिता कहा था मोहवर्जित मारे क्या है उक्त हेतु वो पूर्वोक्त जो हेतु दिया है संसार से वैराग्य उनको क्या है वैराग्य होने से संजात सम्यक देत्व सम्यक प्रकार से उत्पन्न है सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है यही लोग होते हैं उस पद के प्राप्ति करने योग्य व्यक्ति वही होते हैं ये कहा अब प्रश्न उठता है वो पद वेद्य है कि अवेद्य है मान ज्ञान का विषय बनता कि नहीं बनता ज्ञान के विषय को वेद्य बोलते हैं ज्ञान का विषय न होगा तो अवेद्य कहेंगे वेद्य है कि अवेद्य है ये दो प्रश्न उठता है तो पद हम चेत मान यदि अव्यय है वो चेत मान यदि यदि वो पद जिसको पद शब्द कहा है आत्मभाव वेद्यम चेत यदि वेद्य है तो कर्तुर अन्यत कर्म कर्ता से भिन्न हो जाएगा वेद्य हो तो कर्ता से कर्म भिन्न वेद्य जो भिन्न होता है अहम घट में जा रहा हूं घट मेरे से भिन्न है वेद्य है वो तो भिन्न हो जाए द्वैतापत्ति आ जाएगी आ जाएगी हाँ। जानने वाला और जा, पहुंचने वाला स्थान तत्पद जो कर्ता और कर्म भाव हो जाएगा द्वैत अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी द्वैतापात द्वैत की आपत्ति अवेद्यम चेत यदि ऊपर अवेद्य है तो अपपार्थत्वाद पुरुषार्थ फेल हो जाएगी कहा पुरुषार्थ करना जानना नहीं है तो क्या करना क्यों साधन करना पुरुष आएगा नहीं जो जाना नहीं बनता जानना नहीं बनता तो क्या करना उसे लेकर अपमार्थत्वात पुरुषार्थ नहीं हुआ वो अपमार्थत्वात प्रेम से तत्व असिद्धि जो प्राप्त करना इष्ट है उसकी असिद्धि होगी जिसको प्राप्त करना था सिद्ध होगा ही नहीं क्यों और पुरुषार्थ होगा वेद्य हो तो वेद्य हो तो पुरुषार्थ बनता है वो चाहता है अवेद्य हो पुरुषार्थ नहीं बन पाया पुरुषार्थ बन पाते से तो प्राप्ति करने की इच्छा इष्ट इष्टत्व तो समाप्त हो जाएगी प्रेक्ष तत्व सिद्धि जो प्रेक्ष तत्व है प्राप्त करना इष्टत्व है उसकी असिद्धि हो जाएगी दोनों तरफ से बोला अगर वेद्य है तो द्वैत आएगा अवेद्य है तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो क्या है वो एक प्रश्न उठा तदेव इत्यादि शब्द का देखो आगे इसका तात्पर्य बताते हैं कि वो पहले से प्राप्त है प्राप्त की प्राप्ति है या वेद्य और अवेद्य कहना बनता नहीं बात यह है अवैध भी नहीं है वेद्य भी नहीं है अपना स्वरूप को मैं जानता हूं कहने भी नहीं मानता नहीं जानता हूं कहने भी नहीं मानता अन्य देव को तथो अभी अधि ये परिषद में कहा हुआ है कार्य का अभाव दोनों से अतिरिक्त है मैंने अपने स्वरूप को जानना भी नहीं होता हम घट में जाना हूं करता और कर्मपन के जो जाना मैं घट को जानता हूं मैं करता हूं कर्म है इस रूप से अपने को नहीं जानता मैं मई को जानता हूं नहीं होता मैं अमुक को जानता हूं जानने वाला और जानने योग्य पदार्थ भिन्न होगा द्वैत होता हूं द्वैत में जानना होता है मैं मुझको जानता हूं ये ये कभी बन नहीं सकता कर्ता भी वही हो कर्म भी वही हो कभी नहीं होता ये को नहीं हो सकता नहीं जानना भी नहीं बनता मैं अपने को नहीं जानता हूं कोई भी नहीं बोलता मैं जानता हूं बोलता है अहम ये स्थिति होता है अपने स्वरूप के बारे में अन्य को विशेष जानता हूं बस अन्य को जानता जानना न जानना अन्य में होता है घटम अहम जाना में घटम अहम न जाना में अपने से भिन्न में जानना न जानना होता है स्वयं में जानना भी कहना भी नहीं होता और न जानना बोलना भी नहीं होता मैंने कर्ता और कर्मा दोनों एक नहीं होता स्थिति ऐसी है तो पहले से प्राप्त है माने अज्ञान के कारण से अप्राप्त जैसा था उसके दूरी किया अज्ञान को दूर किया इतने में काम है वो इतनी बात है जैसे अधेरे में घट अंधेरे में था घट बाद में पैदा नहीं होता पहले से घट विद्यमान है वो किंतु अप्राप्त अवस्था में था प्रकाश लाइट जलाएंगे प्राप्ति अब वो प्राप्ति की प्राप्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है स्थिति ऐसे ही यहां की है पहले से आत्मा स्वतः हमारा स्वरूप ही है कभी अप्राप्त नहीं है कोई भी बोलता मैं नहीं हूं कभी कोई बोलता ही नहीं चाहे अंधेरे में सोया हो कहीं भी हो हूं हूं बोलता मैं हूं ऐसा बोलता है अपने विषय में कभी नास्तित्व भाव होता ही नहीं है प्राप्ति है प्राप्ति की प्राप्ति है इसलिए वेद्य अवेद्य बोलना संभव नहीं है ये कहा उत्तर देना चाहते हैं यही उत्तर होगा तो यह में ये कहा तत्त पदम वेद्यम यदि वो वेद्य हो पद मान ज्ञान का विषय बनता हो कर्तुर अन्य कर्म इति कर्ता से भिन्न कर्म हो जाएगा वेद्य हो तो कर्ता जानने वाला होगा जानने योग्य होगा भिन्न होगा इति पाता कर्ता और कर्म दो हो जाएगा वहां द्वैता आ जाएगी द्वैत आ जाएगा और अवेद्यम जय यदि वेद्य नहीं है ज्ञान योग्य नहीं हो पद ज्ञान का विषय नहीं होता अपमर्थत्व पुरुषार्थ नहीं हो पाया फिर जो ज्ञान के विषय बनेगा उसी को पुरुषार्थ मानते हैं ज्ञान के विषय नहीं बने पुरुषार्थ नहीं अपमर्थत्व पुरुषार्थ न होने से प्रेक्षितत्व असिद्धि जो प्राप्त करना इष्ट है उसकी असिद्धि हो जाएगी यदि आशंका तदेव कहा तदेव पद पुनर्विशेषते उसी पद का फिर विशेषण लगाते हैं ये विशेषण तो वही लगा दिया ऐसे लोग पहुंचते हैं करके कहा निर्माण हुआ चित्त दोष आदि उसी को फिर दूसरा विशेषण भी चढ़ाते हैं अरे बाबा वो तो मेरा ही स्वरूप ही है अंश ही है क्या है अंश ही बताएंगे बात तो मेरा स्वरूप ही है वो अंशांश भाव भी अज्ञान के कारण से कल्पित है बोलेंगे कहना है मवैवा नतदभाषयते सूर्यो रसधाको न पावक यदगत्वाद निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यदगत्वाद निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तत्पदम वो जो पद है पूर्व स्वरूप का जो पद है स्थान है सूर्यो न थे सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता यही है क्यों जिससे सूर्य प्रकाशित होता हो वो उसको सूर्य कैसे प्रकाश करेगा जिस लोहे से लकड़ी कट जाती हो वो वो लकड़ी लोहे को काटने से काट सकेगा नहीं काट सकता जिस अग्नि से लकड़ी जल जाती हो वो लकड़ी अग्नि को जला पाएगी नहीं जला सकती वैसे जिस आत्म प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा हो वो सूर्य कैसे प्रकाश करेगा नहीं कर सकता न तदवास है सूर्य सूर्य उसके सूर्य उसके प्रकाश नहीं कर सकता बाकी संसारिक पदार्थ को प्रकाश करेगा भौतिक सूर्य स्वयं भौतिक है भौतिक पदार्थ को प्रकाश करेगा उस अभौतिक पदार्थ आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता वो मेरा स्थान है आत्मभाव से बोल रहे भगवान है तत्त भाषा भाष है सूर्य न सशांक सशांक कहते हैं ससा खरगोश खरगोश को धारण करने वाले चंद्रमा चंद्रमा में गहरे से देखेंगे तो बीच में काला काला लगता है डब्बा दिखता है वो खरगोश का स्वरूप मानते हैं ससह अंक में है जिसका चंद्रमा के कोने में सचखा खरगोश बैठा हुआ है वो भी प्रकाश है मैंने चंद्रमा भी प्रकाश नहीं कर सकता ऐसा पढ़े न पाप का पाप अग्नि अग्नि को पावक कहते हैं सबको पवित्र करने वाला है इसलिए पावक कहा जाता है पावक अग्नि में कुछ भी डालते हो सबको पवित्र बना जाए मुर्दा आदि जलाते हैं जलाने पर राख बन गया पवित्र हो गया विष्टा आदि कोई भी हो सब पवित्र हो गया राख बन गया समाप्त हो गया सबको पवित्र करने वाला वस्तु इसे पावक कहा जाता है वो भी उसको प्रकाश नहीं कर सकता जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाश कर रहे हैं भौतिक प्रकाश दे रहे हैं प्रकाश नहीं कर सकता कहा यदगत्वा न थे देखो भाई मेरा स्थान वही है जहां पर ये तीनों बड़े बड़े माने जाते हैं जो प्रकाशक पदार्थ माने जाते हैं सूर्य है चंद्र है अग्नि है ये भी प्रकाश नहीं कर सकते जहां और जहां पहुंचने पर अथवा जिसको प्राप्त करने पर न निवर्तन थे जिसको प्राप्त करने पर ये जीव फिर संसार में लौटते नहीं स्थिति है जब तक मन को प्राप्त करके बैठे संसार में लौटते रहेंगे जब मन से ऊपर की स्थिति में पहुंच गए आत्मा को प्राप्त कर गए हो जब फिर संसार में नहीं लौटते <clears throat> यदगत गत्वात प्राप्त जिसको प्राप्त करके ना थे जीवों की निवृत्ति नहीं होती संसार में नहीं आते दोबारा शरीर धारण नहीं करते तब धाम परम ममा वही मेरा प्रकाश रूप स्थान है मेरा ज्ञान रूपी प्रकाश कैसा प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश दो प्रकार के प्रकाश है एक तो ये लाइट से हम पुस्तक को जान रहे हैं सूर्य के प्रकाश से हम समझते हैं पुस्तक है चक्षु के सहारे से किसके द्वारा सहारे से देख रहे हैं जानते हैं दूसरा ये पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं सामने वस्तु है मैं जानता नहीं हूं तो आपसे पूछा क्या है आपने कहा अमुक पुस्तक है तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया ज्ञान से भी वस्तु प्रकाशित है उसको समझना क्या वस्तु है ज्ञान से समझा जाता है जो अज्ञान से आच्छादित होगा हम उस वस्तु को जानते नहीं जिस विषय में जिसमें तो उसको ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं उस स्थिति में ये भी प्रकाश ज्ञान को भी प्रकाश कहा जाता है वस्तु को प्रकाश करने वाला होता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश है धाम माने प्रकाश तब धाम परम मम वही मेरा परम धाम है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्मृति है ज्ञान स्वरूप वो मेरा धाम है ये भगवान अपना एड्रेस दे रहे पता बता रहे हैं जहां पर सूर्य चंद्र मान अग्नि की गति नहीं है प्रकाश नहीं कर सकते वो स्थान ढूंढना है कहां है वो स्थान और जिस स्थान को प्राप्त करके दोबारा शरीर आदि ग्रहण नहीं करते आवृत्ति नहीं होगी शरीर आदि में वही पहला स्थान है मैंने आत्मभाव से बोल रहे हैं परमात्मा आत्मभाव से क्योंकि शास्त्रों में कभी कभी सगुण साकार रूप से उपदेश करते हैं कभी कभी सगुण निराकार रूप से ईश्वर भाव से उपदेश होता है कभी कभी आत्मभाव से विशेष भाव से ये पाप स्वात्म है स्थिति है समय हो गया है यह रखते फिर करेंगे आज भाषित कार्य ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णापूर्णे पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम